यजुर्वेद के पैंतीसवें अध्याय के दसवें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अष्टमनवती रियते ये प्रारंभिक शब्द हैं ओम अश्मन्वती रीयते संरभध्वम् उत्तिष्ठता प्रतरता सखाया गात्रा जहीमो शिवाये अन् माभिवाजान। वयमुत्तरेमाभिवाजान् पदार्थान् अश्मन्वपि बहवो अश्मानो मेघ पाषाण वा विद्यन्ते यस्यां सृष्टौ नद्यां वा सा रीयते गच्छति सं सम्यक् रभध्वं प्रारम्भं कुरुत उत्तिष्ठता उद्यता भवता प्रतरता दुःखानि उल्लङ्घ्यता सखाया सुहृदा सन्ता अत्र अस्मिन् संसारे समये वा जहीमः त्यजामः अशिवाः अकल्याणकराः ये असन सन्ति शिवान् सुखकरान् वयम् उत्तरेम उल्लङ्घयेम अभिवाजान् अत्युत्तम अन्नादि भोगान् भावार्थ ये मनुष्य बृहत्या नौकया समुद्रम इव अशुभ आचर, आचरणानि तीर्वा तीर्त्वा प्रयत्नेन उद्यमिनो भूत्वा मंगला आचरेयु ते दुख सहजता सतरेयु पदार्थ हे सखाय मित्रो जो अश्मनवती बहुत मेघों व पत्थरों वाली सृष्टि व वा नदी प्रवाह से जीयते चलती है उसके साथ जैसे वयम हम लोग ये जो अत्र इस जगत में व समय में अशिव अकल्याणकारी असन है उनको जहीमा छोड़ते हैं तथा शिवान सुखकारी वाजान अति उत्तम अन्नादि के भागों को अभी उत तरेमा सब ओर से पार करें अर्थात भोग चुके वैसे तुम लोग समरभत्वम सम्यक आरंभ करो उत्तिष्ठता उद्यत होवो और प्रतरता दुखों का उल्लंघन करो भावार्थ जो मनुष्य बड़ी नौका से समुद्र के जैसे पार हो वैसे अशुभ आचरणों और दुष्ट जनों के पार हो प्रयत्न के साथ उद्यमी होकर मंगलकारी आचरण करें वे दुख सागर के सहज से पार होवें। इति देर स्वाध्याय सदगण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं वेद मंत्र में जो बातें कही गई वे विशेष ध्यान देने योग्य अश्वनवती रिय अश्वन कहते हैं पत्थरों को अश्वन नाम है पत्थर का एक उपमा दी गई है कि ये संसार रूपी नदी पत्थरों वाली है और ये धारावाही सतत गतिशील चल रही है आज अनुभव करते होंगे कि व्यवहार में राजकीय कार्यालयों में और अपने परिवारों में भी व्यक्ति सत्य बोलने में घबराता है डरता है विफल होता है ये पत्थरों वाली नदी अपने घरों में भी आ गई है धीरे धीरे क्या समझे आप ये पत्थर जो है पति पत्नी के विचारों में जो टक्कर होती है ये पत्थर कहलाते अच्छे आचरण करने में व्यक्ति को जो बाधाएं देखने को मिलती हैं वो सारे के सारे पत्थर हैं श्रवण रखिए बाहर के पत्थर हैं पर आंतरिक काम क्रोध लोभ वो भयंकर पत्थर हैं ये आंतरिक पत्थर तो आदेश दिया गया है व्यक्ति ये संसार रूपी पत्थरों वाली नदी गतिशील है ध्यान से देख इस वेद मंत्र को पढ़ते पढ़ाते एक बार हिमाचल प्रदेश में एक नदी को देखा उसका नाम है रावी नदी दयानंद मठ चंबा में इतनी दूरी पर बहती है और उसमें इतने बड़े बड़े पत्थर हैं इतनी दूर से आवाज सुनाई देती है इतनी जोर से पानी टकराता है हो सकता है हाथी यदि आ जावे तो हाथी को उखाड़ के फेंक तब समझ में आया ये उपमा जो दी है अस्मृवती रही थे ये संसार रूपी पत्थरों की नदी है आपको भी ये यहां संयम से रहना वाणी वह संयम रखना संयम से खाना आपके लिए भी ये पत्थर सामने आ रहे होंगे तो कहा अश्रवती रहिए थे समरबद्धम क्या करो आचरण करो कटिबद्ध हो जाओ पुरुषार्थ बिना पुरुषार्थ के कोई भी व्यक्ति नदी को पार नहीं कर सकता और पुरुषार्थ करने वाले समुद्र में तैर के भी कई कई दूर किलोमीटर से आ जाते हैं अश्वनवती रिये समरबध्वम सम रबध्वम रबध्व का अर्थ है पुरुषार्थ करो और सम लगा दे तो है जी बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक पुरुषार्थ करो ऐसे केवल पुरुषार्थ करते चले जाओ और ज्ञानपूर्वक नहीं हो तो समरबत नहीं होगा वो एक व्यक्ति दिल्ली से कलकत्ता जाना चाहता है टिकट ले लेता है वस्त्र बांध देता है और पुरुषार्थ खूब करता है पर अमृतसर जो जाने वाली गाड़ी है पाकिस्तान की सीमाओं पर उसमें बैठ लेता सम, धोम नहीं हुआ रब तो हुआ प्रारंभ तो हुआ पर सम नहीं हुआ तो वो अमृतसर चला जाता है पाकिस्तान की सीमा के तरफ इसीलिए कहा समरबद्ध ध्वम बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करो यूं तो लाखों करोड़ों लोग भक्ति में जुटे हुए हैं मंदिरों में बड़ी भीड़ है आप देखेंगे वहां सारी गतिविधियां चल रही है करोड़ों रुपया खर्च हो रहा और वहां समरभ ध्वम नहीं है अब कुंभ का मेला आने वाला है कुंभ के मेले मैंने बहुत देखे उज्जैन इलाहाबाद हरिद्वार आदि आदि कितनी भीड़ होती है इतनी भीड़ मानी जाती है एक करोड़ जनसंख्या इलाहाबाद के कार्यक्रम में थी लगभग एक करोड़ दिल्ली भी शायद इतनी बड़ी ना हो अब हो गई हो तो मुझे पता नहीं लगभग इतनी कितने किलोमीटर दूरी पर ठसाठस लोग भरे चल रहे हैं पर वहां रब धोम तो है गतिशील है करोड़ों रुपया खर्च होता है एक एक पंडाल में दस दस हजार की बात छोड़िए पंद्रह हजार और बीस हजार तक प्रति सुनने को लिए बैठते हैं उपदेश और उपदेश में कह दिया जाता है एक दिन मैं सुन रहा था कोई साधु बोल रहा था या विद्वान कहने लगा भगवान सर्वशक्तिमान है वो चाहे जो कुछ कर सकता है चाहे जो कुछ का मतलब वो घोड़ा अपने आप को बना सकता है गधा बना सकता है पहाड़ भी बना सकता है अर्थात भगवान सर्वशक्तिमान होने से चाहे जो कुछ कर सकता है अब उसने भाषण दे रखा है पसीने पसीना है सुनने वाले सुने और समरबत ध्वम नहीं है बुद्धिपूर्वक परमात्मा का वर्णन नहीं है तो याद रखो समरबत ध्वम ये कहा तैयार हो जाओ और सखाय यदि हम मिलकर के चलते हैं सारे के सारे संगठित होकर चलते हैं तो निश्चित बात है परतरता दुख साध से तैर जाएंगे कि नीचे परतरता सखाए है मित्र होके चलो तो तैर जाओगे आप तो साथ दो दिन भी मित्र नहीं रह पाते घरों में आत्मनिरीक्षण कर लो गृहस्थी लोग और सन्यासी ब्रह्मचारी भी कर ले दो ब्रह्मचारी भी साथ मिलकर न रहने रह सकेंगे साथ या रह सकते में गुण है वो लोक में संसार में सफलता को प्रदान करता है और वही योग में ऋषियों ने कहा कि मन वचन और शरीर से अहिंसा झगड़ा हिंसा की प्रवृत्तियों को छोड़ो और प्रेम से चलो ये पाठ पढ़ाया ऋषियों जो व्यक्ति इस पाठ को नहीं लागू करता वो लोक में विफल है और योग में नितांत विफल है एक समझाने के लिए एक विद्वान की कथा थोड़ी सुनाऊ निंदा के रूप में नहीं सुनानी है केवल आपको बताना है कितना पढ़ लिख करके भी व्यक्ति अहिंसा का पालन करने में कितना विफल होता है कई बार उस विद्वान को उत्तेजना आ जाती कुछ तनाव आ जाता तो मैंने उससे कहा आपने अंग पढ़े उपांग पढ़े पढ़ाया भी बहुत कुछ किया है पर आपको एक पंक्ति समझ में नहीं आई कौन सी ऐसा पाठ है लगभग सर्वथा सर्वदा सर्व प्राणी नाम अनभिद्रोह सर्वथा सर्वदा सभी प्राणियों के साथ पैर भाव छोड़ के प्यार से रहना ये अहिंसा की पंक्ति है ये आपको समझ में नहीं आई उसकी आंखें खुल गई बात बिल्कुल ठीक है मैंने कहा कि आप छोटी छोटी बातों पर तनाव करते हैं आपने क्या अंग पढ़े क्या उपांग पढ़े एक पंक्ति तो आपको समझ में आई घमंड आपको इस बात का है कि मैंने अंग पढ़े उपांग पढ़े ये पढ़ा वो पढ़ा बेकार की चीज है इसलिए सखा है पाठ दोनों ओर सफलता प्रदान करता है लोक में जितने काम होते हैं सामाजिक जितने काम है राष्ट्र की उन्नति में ये सखाए काम करता मिलकर चलो आर्यवन विकास के अधिकारी और हम सब मिलकर के चलते हैं जितना भी चलते हैं जितना भी हम मिलके चले उतनी सफलता मिली हम यदि इतना भी मिलके नहीं चलते तो ये सफलता नहीं मिली नहीं मिलती देश और विदेश में जहां तक मेरा ज्ञान है इस विद्यालय का प्रभाव हुआ विदेशों तक और यहां के पढ़े लिखे विद्वान भारत के कितने प्रांतों में कहां कहां पर काम करते हैं वो सामने परिणाम आ गया यदि हम इतने भी मिलकर नहीं चलते तो ये ब्रह्मचारी जितने हुए इतने तैयार नहीं हो सकते थे जो आप हजारों की संख्या में आए होंगे कितने लोग माताएं आती हैं हजारों किलोमीटर दूरी से कर्नाटक तक के ये लाभ आप नहीं उठा सकते सखाए से होता है मित्रता से होता है मिलके चलो एक बात और कई वेद मंत्र में कहने लगे ध्यान दो इस बात का कि जो दुर्गुण है दुर्विशन है बुराई उनको छोड़ दो तत्काल आपने क्या पढ़ा विश्वानी देव में है हाँ जी ओ विश्वानी हे देव सविता विश्वानी दुरीतानी इसमें तो यही मांग की ना विश्वानी विश्व में विश्व विश्वानी बहुवचन में क्या बनेगा विश्वा और दुरीतम दुरीते दुरीतानी बुराई जितनी है दुरीत से सारी चीजें अविद्या अज्ञान चोरी जारी मिथ्या भाषण सब परास हुआ दूर कर दो और यद भद्र भद्र से क्या कहेंगे जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव ज्ञान विज्ञान अनुष्ठान है तत् न वह हमारे लिए आस हुआ ये प्रार्थना की तो इसमें कहा कि देखो भाइयों सफलता जिम मिलेगी पत्थर वाली नदी में इन दुर्गुणों को छोड़ दोगे आपको कहा जाता है बात मत करो या बातचीत न करो ठीक है क्रोध न करना आप जब तक इन बुराइयों को नहीं छोड़ दोगे ना ये जो आपको छुड़ाई जा रही आप इस विद्या को नहीं पकड़ पाएंगे दुरित जो है बुराई है वो उनको छोड़ना अनिवार्य होगा प्राय व्यक्ति दुर्गुणों को छोड़ने में विफल कब होता है अधिक विफल जब अपने दुर्गुणों से प्यार करता है तब विफल होता है क्या समझ में आया आपको ऐसे कुछ सुनाना नहीं है सिखाना है क्या समझ में आया अपने दुर्गुणों से जब प्यार करता है तो वो अपने दुर्गुणों को नहीं छोड़ सकता इसलिए कहा उनको तो छोड़ दो और जो कल्याण कारक गुण स्वभाव उनको धारण करो तो निश्चित बात है कि पत्थर वाली नदी से पार हो जाएंगे ये संसार हमारे सामने है इसमें कैसे रहना चाहिए कैसे सफलता मिलेगी वो वेद का संदेश है उसको सुनना और जीवन में लाना चाहिए ओम ऋग्वेद मंडल के